उजेनी सुनूर सुनुर्गारी दीन मलिन दरिद्र काल कछु कालकु पाए तह पुन करऊ शम्भु सेवकाई विप्रयेक दिक शिव पूजा कर् सदाते काजो न दूजा परम साधु पर मारथ बिन्दक प्रभु शम्भु नहीं हरि निन्दक हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते उन्हें दूसरा कोई काम न था वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे वे शंभु के उपासक थे पर श्रीहरि की निंदा करने वाले न थे तेहि सेवऊ मैं कपट समेता द्विज दयालयति नीति निकेता बाह्य जनाम्र देखि मोहि साये विप्र पढ़ाव पुत्र के नाय शंभु मंत्र मोहि बर दीना शुभ उपदेश विविध विधि की नाम जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाये हृदय भय मित अधिकारी मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे हे स्वामी बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया मैं खल मल संकुल मते नीच जाति बस मोह हरिजन द्विज देखे जरऊ करऊ विष्णु कर दो नित मोहि प्रबोध दुखित देखिया चरण मम मोहि उपजयति क्रोध दम्भि नीति की भावई मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्रीहरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते पर मैं कुछ भी नहीं समझता उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता दम्भी को कभी नीति अच्छी लगती है एक बार गुरु लीन बुलाए मोहिनी ते बहु भांति सिखाई शिवसेवा कर फलसुत सोये अबिरल भगति रामपद हो राम हि भजहि तात शिवधाता नर पावर के केति जासु चरण यज शिव अनुरागे तासु द्रोह सुख चहसी अभागी हे तात शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं अरे अभागे उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है गुरुजी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप मानी तिल कुभाग्य कुजाते गुरु कर द्रोह करऊँ दिन राति अति दयार गुर स्वल्पन क्रोधा पुनि पुनि बोहि सिखाव सुबोधा अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता गुरुजी अत्यंत दयालु थे उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे जही ते नीच बड़ाए पावा सो प्रथम ही हति ताहि न सावा मयनलम् भव सुनु भाये तहि पदवी पा रजमगपरे सब कर पद प्रहार नित सहयि मरुत उडाव प्रथम ते ही भरये पुन निपनयन किरीट निपरयी नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है हे भाई सुनिए आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है सुनो खगपति समुझे प्रसंगा बुध नहि करहि अधम कर संगा कवि को विदगा वही यश नीति खलसन कलहन भल नहि प्रीति उदासीन नित रहिय गुसाए खल परिहरिय स्वान की नाई खल हृदय कपट कुटिलाए गुरुहित कहन मोहे सुहाई हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कला हो कला ही अच्छा है न प्रेम ही हे गुसाई उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए मैं दुष्ट था हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी इसीलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती न थी एक बार हरे मंदिर जपत रहे शिव नाम गुरियाय अभिमान ते उठ नहीं न प्रणाम एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था उसी समय गुरु जी वहाँ आए पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया सो दयालु नहीं कहे वो कछो उरन लोल रोस लवलेस अति अघ गुर अपमानता सही न सके महेश गुरुजी दयालु थे मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके